तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तो फिर वो हार्ड ड्राइव छूने की हिम्मत क्यों दिखा रहा था हर्षित ने तुरंत ही एक्सप्लेन करते हुए कहा लेकिन हर कत्ल के पीछे कुछ न कुछ मोटिव जरूर होता है तो अगर वाकई में इंस्पेक्टर अशोकन ने मर्डर किया है तो उसका मोटिव क्या है वो भला क्यों मर्डर करेंगे अभी भी वहां पर मौजूद पुलिस वाले इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे कि इंस्पेक्टर अशोकन कोई मर्डर कर सकते हैं विक्रांत ने समन्ता की तरफ देखते हुए उसे गन नीचे करने का इशारा दिया इसके बाद उसने बाकी लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा अच्छा तो, तो जब इंस्पेक्टर अशोकन ने खुद कन्फेस करने से मना कर दिया है तो फिर स्पेशल टीम के टीम लीडर के तौर पर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद ही इस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करूं। कोई बात नहीं मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये पूरा चमत्कार हुआ कैसे इतना कहकर विक्रांत ने अपना फोन बाहर निकाला और फिर उसमें से दो फोटो खोलकर उन लोगों को दिखाते हुए बोला सब लोग इधर आओ ये देखो विक्रांत ने अपना फोन दूसरे पुलिस वाले के हाथ में थमाते हुए कहा तुम्हें वर्कला बीच पर मौजूद लाइट हाउस वाले मर्डर केस के बारे में पता है ये जो फोटो में औरत दिख रही है इसका नाम है बासु बासु लहरी ये लाइट हाउस पर काम करने वाले गार्ड की पत्नी है उसे पहचानते हो ना विक्रांत ने सोचा था कि उसके द्वारा बासु का नाम लेने के बाद सभी लोग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगेंगे लेकिन किसी के चेहरे पर कोई स्पेशल रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था सभी एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे यहाँ तक कि शायद अब तक अशोकन भी आगे होने वाली घटनाओं के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुका था क्योंकि उसके चेहरे पर भी कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन ये जो दूसरी फोटो में जो है इसे शायद मैं पहचान रहा हूँ आखिरकार एक पुलिस वाले ने विक्रांत के फोन में नजर आ रही दूसरी फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा फिर उसने तुरंत ही विक्रांत से सवाल किया ये तो इंस्पेक्टर अशोकन की माँ है ना तब जाकर बाकी के पुलिस वालों ने अपनी नजरें अशोकन की तरफ संदेह की दृष्टि से किया विक्रांत ने फिर फोन को हाथ में लेकर चारों तरफ दिखाते हुए थोड़े तेज लहजे में कहा हमने इन दोनों फोटो को प्रोफेशनल से कंपेयर करने के लिए कहा और पता है हमें क्या पता चला इंस्पेक्टर अशोकन की माँ ही बासु लहरी है ओ इस वक्त भी शायद उन पुलिस वालों को विक्रांत की पूरी बात समझ में नहीं आई थी वो लोग विक्रांत की तरफ असमंजस भरी नजरों से देख रहे थे उनसे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद तो विक्रांत को कतई नहीं थी तभी जिस यंग पुलिस वाले को बहादुर ने बोर्ड से धक्का मारकर पानी में गिराया था उसे आगे विक्रांत से सवाल किया सर ये बासु लहरी कौन है ये सुनकर तो विक्रांत का पारा चढ़ गया उसका दिल कर रहा था कि उसके ऊपर अपना फोन खींच के मारे लेकिन किसी तरह से उसने अपने भावनाओं पर काबू कर रखा था दरअसल लाइट हाउस वाला केस जब हुआ था तब सिर्फ कुछ ही पुलिस वालों को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया था और जिन लोगों को इस केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया था उन्हें भी बस अलग अलग टास्क दिए गए थे किसी को भी केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी इस वजह से ज्यादा किसी को इस केस के बारे में पता नहीं था इसी वजह से जब विक्रांत ने बासु लहरी की फोटो दिखाते हुए उसे अशोकन की मां बताया तो फिर किसी को भी उसकी इस बात पर हैरानी नहीं हुई ऐसी सिचुएशन में हर्षित ने तुरंत ही सभी पुलिस वालों को लाइट हाउस मर्डर केस के बारे में बताया जब हर्षित ने सबको पूरे केस के बारे में समझा दिया तब जाकर एक सीनियर पुलिस वाले ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा सच में अशोकन सर आपकी माँ का नाम बासु है और आप आप उसके इस बात का अशोकन जवाब देते उससे पहले ही विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा अशोकन जी आपको पहले से समझ जाना चाहिए था कि आज नहीं तो कल मैं सच्चाई को सामने ला ही दूंगा फिर उसने आगे बोलते हुए कहा भले ही तुम्हारी माँ का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी हम इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम ये ऑफिशियली साबित कर देंगे कि बासु ही तुम्हारी असली माँ है लेकिन जैसा पहले उसने कहा था उसे अभी अनुष्का और हर्ष के आने का इंतजार करना होगा उन दोनों के आ जाने के बाद ही विक्रांत आगे कोई बड़ा स्टेप ले सकता है चूँकि अभी तक बासु लहरी की फोटो पुलिस के आर्काइव में सेव थी ऐसे में हर्ष और अनुष्का को बासु लहरी की पहचान करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और ना ही ये साबित करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ा कि बासु लहरी ही इंस्पेक्टर अशोकन की माँ है उन्हें सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद बासु की फोटो से अशोकन की माँ के चेहरे को मैच करना था और फिर तुरंत ही सारी चीजें क्लियर हो जाती यहाँ पर तो डीएनए टेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं थी अनुष्का तो साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी उसे ये सब पता लगाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा जब वो हर्ष के साथ अशोकन के घर पहुंची तो फिर बासु से कुछ पल बात करने के बाद ही उसने बासु को ये मानने के लिए कन्विंस कर लिया कि वो ही लाइट हाउस के गार्ड की वाइफ है और वो उस केस के बाद कई सालों से गायब थी उसने अपना नाम बासु लहरी होना भी एक्सेप्ट कर लिया था निस्संदेह इस केस के इन्वेस्टिगेशन में ये सबसे बड़ा एविडेंस था जैसे ही ये कन्फर्म हुआ कि बासु लहरी ही अशोकन की असली माँ है फिर तो इस मर्डर केस का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो उठा अब तो इंस्पेक्टर अशोकन के मर्डर करने का मोटिव भी साफ हो चुका था साफ तौर पर कहा जा सकता था या अशोकन ने अपनी माँ और बाप के साथ हुए कांड का बदला लेने के लिए ही फिल्म क्रू के लोगों का खून किया है अशोकन अभी भी तुम अपना जुर्म एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या विक्रांत ने अशोकन की तरफ अपनी भौएं टेढ़ी करके देखते हुए कहा तुम लाइट हाउस के गार्ड के बेटे हो और वजाहत अली जिसे कि तुम्हारे बाप ने अपने घर में रुकने की जगह दी थी उसी ने तुम्हारे बाप का मर्डर किया और फिर उसने तुम्हारी माँ के साथ रेप भी किया और फिर जब वजाहत के भतीजे नौशाद अली ने तुम्हारे माँ बाप की स्टोरी पर फिल्म बनाना शुरू किया तो तुमने उसे सबक सिखाने के लिए उन सभी का मर्डर कर दिया जब विक्रांत ने अपनी बात खत्म की तो ऑफिस में कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया सभी भौचक्के होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे इस वक्त अशोकन ऑफिस के बीचों बीच खड़ा था और अब सभी को उसी के बोलने का इंतजार था <laughs> अचानक से अशोकन जोर जोर से हंसने लगा उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी और उसे यूं हंसता देखकर हर कोई आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लग गया विक्रांत सर आप आप तो बहुत इंटेलिजेंट है <laughs> अशोकन ने विक्रांत की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया मैं अपनी यह गलती मानता हूँ कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी लेकिन ये तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना और दूसरी चीज अगर मेरी माँ का नाम बासु लहरी है और वजाहत अली ने ही मेरे फादर का मर्डर की थी और उसका भतीजा नौशाद मेरे पेरेंट्स की स्टोरी पर फिल्म बना के उसको बदनाम कर रही थी तो भी इसका ये मीनिंग तो नहीं है कि मैं एक साथ इतने लोगों का मर्डर कर देगा आप मेरे को क्यों इस तरह फंसा रहा है छह लोगों को एक साथ मारना कोई आसान काम है क्या मैं इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता है तुम्हारा मेन टारगेट तो नौशाद ही था लेकिन मर्डर के वक्त वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से तुमने बाकी लोगों का भी खून कर दिया हर्षित ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा क्या क्या बातें कर रहे हैं आप एक सीनियर पुलिस वाले ने हर्षित के इस लॉजिक को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था सर प्लीज इस वक्त वो तो पुलिस वाला जिसको बहादुर ने पानी में फेंक दिया था वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर भागता हुआ आया सर पी के सर आपसे बात करना चाहते हैं मैं अभी बात नहीं कर सकता दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मैं कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ विक्रांत ने उसे डपटते हुए कहा अच्छा फोन स्पीकर पर डालो सब लोग सुनो क्या कह रहे हैं वो